कैलाश तमाशे में बड़ा हुआ गाना रामगा प्रकाश बम हा हा हा मैं वो बंद हूँ जंग में कष्ट करूँ करे दस्त नया बंदोबस्त करूँ कभी कष्ट की कष्ट की कष्ट करूँ कभी बातों को दस्त में कष्ट करूँ जो कुछ पैदा करे बता दाम करूँ धूमधाम से काम तमाम करूँ मैं तो वो हूँ कि आम से आम करूँ बच्चे गुस्सी से गुस्सी से काम करूँ मेरी लगावटें मेरी घातें बला की है आसत तोड़ जोड़ है घातें बला की है शौकत मेरी गजब की है मातें बला की है मैं खुद बना हूँ हुक्म सिफातें बला की है और काला मुझको समझो मैं कहता हूँ दूर की कितना हूँ मेरी पाया है मकरों दूर की मगर यह सब जो आला गाता हूँ जबान सब सुनाता है ये तो जबान की दुकान से सीला हिला दो कहाँ उड़ा दो मगर कहीं लड़ाई लड़ाई की नौ बताई तो जान यू बचाई तो छोड़ी बीस कदम तो बदम बल्कि चालीस कदम तुम चले बड़ा चाला बड़ा पूरा सादा हो इतना परा भर मैं कहीं चले कुछ बड़ा जाना बड़ा जाना मेरा सारा है इतना उल्ट कर जाना बड़ा रंग है बड़ा बहुता उल्ट कट कर जाना मरता हूँ पैसा भरता कहीं समझा दो मंत्र मंत्र कर कर कर कर कर कर कर कर कर सारा